बसमीम व मकामफ़सली युबाजर मकामफ़सली इससे पहले व इनमा फ़सला फ़लहू व मकामफ़सली युबाजर मकामफ़सली और मुसनफ़ ने अपने कौल मकामफ़सली युबाजन मकामफ़सली को फसला अलग किया जुदा किया इस कॉल को हम पीछे से जोड़ेंगे उससे पहले यहाँ आ जाओ वहुआ अई मुख्तल हाल ही फ़िन मकाम कलामी मुतफावित और वो वो यानी मुख्त हाल बदलाव था कि बलागत के अंदर तीन चीज़ें होती हैं हाल मकसद हाल और मुताबकत मकसद हाल हाल मतलब हालत के इंसान की हालत मुखातब की हालत क्या है देखा कि मुखातब मुनकर है तो ये हालत कौन सी हुई हाल कौन सा हुआ इनकार वाला हाल हुआ इनकार वाले हाल के लिए ज़रूरी है कि ताकिद के साथ कलाम को लाया जाए किसी खसूसियत का ये तकाजा करता है हाल किसी खसूसियत का तकाजा करता है और इनकार की सूरत में हाल का तकाजा ये होगा कि कलाम को ताकीद के साथ लाया जाए तो ये ताकीद है इस ताकीद को क्या कहा जाएगा मुखतव हाल यानी जिसका हाल तकाजा कर रहा है और ताकीद के साथ कलाम ले आए जैसे इन जैदन सिद्दारी तो अब ये मुखतव हाल की मुताबकत हो गई यहाँ से एक बात इन्होंने ये बतलाई थी कि मुखतव हाल मुख्तलिफ होता है फैन्ना मकामात कलाम मुतफ़ावत इसलिए कि मकामात कलाम मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक इश्काल हो रहा था कि इनको ये कहना चाहिए था फैन्ना अहवाल कलामी मुतफ़ावत क्योंकि ऊपर ये बात आ चुकी है अहवाल बदलते हैं तो उनके जैसे हाल होता है ऐसा ही मुख्तज हाल होता है तो यह ये कहना चाहिए था कि मुख्तज हाल मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि अखवाल कलाम मुख्तलिफ होते हैं अखवाल कलाम मुख्तलिफ होते हैं लेकिन यहाँ पर इन्होंने मकाम का लफ्ज़ लेकर आगे और फिर आगे ये भी बदला दी कि भाई ये हाल और मकाम दोनों कोई अलग चीज़ नहीं है सिर्फ एतबारी फ़र्क है बाकी हैं दोनों एक ही चीज़ कि अगर एतबार करते हैं ख्याल करते हैं हाल के ज़माने में हो अगर एतबार करते हैं कलाम के ज़माने में वारिद होने का ज़माने में होने का तो उस वक्त में तो हाल कहेंगे और अगर महल में यानी जगह में मकाम में होने का एतबार करते हैं तो उस वक्त में मकाम का लफ्ज़ कह देंगे ये हल्का सा एतबारी फ़र्क है बाकी असला कोई फ़र्क नहीं है इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा था वहादा आइन तफावतिन अखवाल तो इसके अंदर समझना यह है कि मकाम और हाल के अंदर कोई हकीकी फ़र्क नहीं बल्कि एतबारी फ़र्क है फिर यहाँ बदला था वफ़ी हादल कलाम इशारत इजमालियत मखजियात इस कलाम के अंदर इजमाली इशारा है मुख्तयात अहवाल के मुनहसर करने की तरफ कि मुख्तयात अहवाल क्या होते हैं इजमाली तौर पर यहाँ पर इन्होंने बतला दिया कौन सी इबारतों से ये तमकाल मिनत तनकीरी इसमें आखिर तक की इबारत है अगली बात है वह मकाम फिर ये वह मकाम इनसे बदला दिया कि भाई इनके अंदर मुख्त अहवाल मुनहसर होते हैं तो ये के मकसद हाल किसको कहते हैं उसकी तहकीक आगे फरमा रहे हैं अब ये जो है बीच एक मतन है मकाम कुल मिनत तनकीरी वलाक़ी व तकदीम व ज़िक्री वाह मकाम खिलाफी ही इसके बारे में कल बतलाया था कि तनकीर यानी नकीरा का मकाम जो होगा वो उसके खिलाफ यानी मारफे के तारीफ के मकाम के खिलाफ होगा नकिरा का मकाम मारफे के मकाम के खिलाफ होगा यानी एक है नकिरा का मकाम एक हाल आया और वो हाल तकाजा करता है कि कलाम को नकीरा के साथ लाया जाए एक दूसरा हाल आया वो हाल तकाजा करता है कि कलाम को मारफे के साथ लाया जाए तो यहाँ पर जो हाल का मकाम है यहाँ पर जो नकिरा का मकाम है वो अलग होगा और मार्क का मकाम अलग होगा ये बिल्कुल ज़ाहिरी बात है जैसे मुतलक है तो एक है मुतलक का मकाम एक है मुक़ैद का मकाम तो मुतलक का मकाम अलग होगा और मुक़ैद का मकाम वो उसके खिलाफ होगा वो उसके से बिल्कुल जुदा होगा मैंने इनमें कल नस्बत भी बतलाई थी कि इनमें दोनों के अंदर नस्बत बनती है तबाही फिर इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी मिसालें दी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हैं देखो समक समकाम कुल मिन तनकी इतलाक़ व तकदीम व जिक्र जुगा जिन मकाम खिलाफी बस तनकीर इतलाक तकदीम जिक्र में से हर एक का मकाम उसके खिलाफ के मकाम के मुबाइन है यानी खिलाफ खिलाफ खिलाफी कुल्ल रहा उनमें से हर एक के खिलाफ के मकाम के मुबाइन है उसी के आगे ये तशरी करी थी इन्होंने यानी वो शक वो मकाम कि जिसके मुनासिब मुस्ंद इले का या मुस्ंद का नकीर लाना है तो ये मुबाइन होगा उस मकाम के जिसके मुनासिब मुस्ंद इले का या मुस्ंद का मारफा लाना है ठीक है ना इसी तरह है है ना तनकीर वो मकाम जिसके मुनासिब मुसनद इले या मुसनद को नकीरा लाना है ये वाला जो मकाम है युबाइन ये मुबाइन होगा मुखालिफ होगा उस मकाम के जिसके मुनासिब मुसनद या मुसनद जिले को मारूफ लाना है तारीफ के साथ लाना है क्या कहना जा रहे समझे समझने में इसी तरह हुक्म के मुतलक लाने का जो मकाम है वो हुक्म के मुकैद लाने के मकाम की क्या होगा मुबायन होगा किसी को बताते देखो हुक्म के मतलब लाने का मकाम इसी तरह ताल्लुक मुस्ंदिल मुस्ंद मुतल मुस्ंद इनका जो मकाम है वो मुबाइन होगा हुक्म के मकाम तकजीद ही मुकैद लाने के ताकीद के साथ या अदात कसर के साथ अदात कसर अदात कसर कहता है उन हरूफ को जिनके ज़रिए ऐसे हसर बयान किया जाता है कि ऐसा ही हुआ जैसे यहाँ मिसाल है इसके ऊपर लिखी हुई है मा जईदन अना मा जईदन इल्ला आयमन कि जैद खड़ा ही है जैद नहीं है मगर खड़ा होने वाला यानी जैद खड़ा ही है तो ये कसर हो गया ये ताबे से मिसाल दी जईदन तवीलू कायमन जैद जो तवील है वो खड़ा है जो तवील है वो खड़ा है वरना हाँ। तो, तो के बगैर इसकी बराक मिसाल क्या होगा जईद कायमन जैद खड़ा है लेकिन यह ताबे लेकर आगे सिफत लेकर आगे जईद तवील कायमन तो बगैर सिफत के जो मकाम था जो कलाम था वो मुबाइन है किसके इस मकाम के और इस कलाम के ऐसी शर्त मफूल अवमा यशबा या वो जो उसके मुशाबे हो जैसे हाल है तमीज़ है और व मकामा तकदीम दी रही मकामा क्यों बढ़ रहे इसको मंसूब क्यों बढ़ रहे हम्म? आया था ना ऊपर हाँ, कहाँ आया था इन्नल मकाम लदी हम्म? आया था ना इन्नल मकाम लदी तो आत्फ किस पर होगा किस पर होगा अलमकाम पर होगा या इन्ना पर होगा हाँ, बताओ किन्ना पर होगा या मकाम पर होगा असलम किस पर होगा अरे अल मकाम पर ही तो होगा तो मकाम तकदीब मुस्ंद मुस्ंद मुतलक़ाती और मुस्ंद इले मुस्ंद और उसके मुतलक़ात के मुकदम करने का मकाम क्या होगा युबाइनु मकामा ताखीरी उसको मौखर करने के मकाम के मुबाइन होगा एक है मुकदम करने का मकाम एक है मौखर करने का मकाम ये दोनों आपस में क्या होंगे एक दूसरे के मुबाइन होंगे मुखालिफ होंगे वह कदा मकाम जिक्री ही योगदायन मकाम हजबी ही और जिक्र का मकाम तो हज के मकाम के मुबाइन होगा अरे एक मकाम जिक्र एक हज का तो दोनों क्या होंगे आपस में एक दूसरे के मुबाइन होंगे और मुखालिफ होंगे खिलाफ मुसनफ़ का कौल ऊपर आया था मकाम खिलाफ ही खिलाफ ही ये शामिल लिमा जकर नाहू शामिल है उसको जिसको हमने जिक्र किया किसको जिक्र किया जो सारी की सारी तकरीर जिक्र की नीचे इन्होंने निकाल कर बदला भी दिया मेरा तारीफ व तकदीम व तखीर वल हजफी समझ गए ना अरे मकामा खिलाफ ही इतनी बात जिक्र की सिर्फ इन्होंने तो कि भाई तनकीर इतलाक तफसील जिक्र का मकाम उसके खिलाफ से मकाम भी मुबाइन होगा और उसके खिलाफ से क्या मुराद है वो सब कुछ मैंने यानी शारह ने अल्लाह रहमत ने जिक्र कर दिया है ये हम पर बड़ा एहसान हो गया वनमा फला अब आ जाओ यहाँ यहाँ तक तो कल हो ही गया था बताओ इसके अंदर अगर कुछ कहना हो तो हम्म। अगर चाहो कि इसमें से हर एक की तशरी करें हर एक को अलग अलग बदलावें जरूरत तो वैसे इतनी ना है इसकी हम्म। ठीक है ना समझ आ गया ना यहाँ तक हम्म। समझ आ गया बस यही है कि एक मकाम दूसरे मकाम के मुबाइन होगा मतलब का मकाम मुतैद के मुखालिफ इस तरीके से उन्होंने इसको वाजह फरमाया है वनमा फसल कौल मकाम अलवसली युबाजिन मकाम अब यहाँ से ये मुख्तज़ अहवाल ही चल रहे हैं मुख्तयात अहवाल ही चल रहे हैं मुख्तयात अहवाल में से एक हाल ये है कि फसल का मकाम तो हाल क्या है कि फसल का मकाम मुबाइन होगा वसल के मकाम के एक मकाम तो ऐसा है एक जगह तो ऐसी है कि जहाँ पर फसल करना चाहिए अतफ न करना चाहिए और एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर अत करना चाहिए वसल करना चाहिए तो अब जहाँ पर वसल करना चाहिए यानी वसल का मतलब उससे उसको एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ दो बीच में हर पास ले आओ और वसल करना चाहिए फसल फसल करना चाहिए यानी पहले को बाद वाले से न जोड़ो उसको अलग कर दो तो देखो दोनों मकाम अलग अलग होंगे ना अरे दोनों मकाम अलग अलग ही तो होंगे अब यहाँ पर एक बात ये जहन में आती है इसको अलग से क्यों जिक्र किया कि यहाँ इन्होंने कहा है एक बात तो ये कि वहीं जहाँ पर बात चल रही थी ऊपर वहीं पर ही इसको जोड़ देते मकाम कुल्ली में तनकीर व इतलाफ व तकदीम व ज़िक्री ऐसे ही वो मकाम फसली इसको जोड़ के क्या कह देते युबाइन मकाम खिलाफी समझे ना मकाम तनकीरी इतलाकी व तकदीमी व ज़िक्री व ज़िक्री के आगे किसको जोड़ देते व मकामिल फसली तो इसका आगे कहते थे युबायर मकामा खिलाफ ही तो वो अपने खिलाफ के मोबाइल है तो ये फसली उसके खिलाफ में आ ही जाता तो इसको अलग से यहाँ क्यों लेकर आए अलग से क्यों जिक्र किया कहते हैं तम्बी आजमी शादी हाजल बाबी इस बाब की आजमत शान पर तमबीह करते हुए ये बाब बहुत ज़्यादा अजीम है बल्कि बाद लोगों ने तो ये कह दिया है कि जिसने मकाम जिसने वसल और फसल को जान लिया तो गोया कि उसने इल्म बलागत को भी जान लिया तो इससे महरूम रहा गोया कि वो इल्म बलागत से ही महरूम रहा तो इसकी तो इसकी आजमत शान की बिना पर इसकी आजमत शान की बिना पर इसको अलग से जिक्र किया गया है चलो ठीक है जी हमने मान लिया हम एक इसका और करते हैं क्या जी ऊपर कहा सबको जिक्र करने के बाद युबाजिन मकाम खिलाफ ही यहाँ भी ये कह देते वह मकाम उलफसली युगाजिन मकाम खिलाफ ही है ना मकाम उलफसली युगाजिन मकामा खिलाफ ही जिक्र कर देते जैसे ऊपर क्या कहते हैं चलो जिसकी भी सुन लो देखो दो बातें हैं इसमें एक बात तो ये मुख्तर है अलवसल का लफ्ज लेकर आना दूसरी ये कि ज़्यादा जाहिर है खिलाफ ही कहते तो दूसरे का भी इस्तेमाल कुछ और हो भी सकता था लेकिन अलवसल कह दिया तो ये बिल्कुल एकदम जाहिर हो गया दूसरे ये कि मकाम खिलाफी कहने में हरूफ ज़्यादा हो रहे थे और मकाम अलवसल कहने के अंदर हरूफ कम है हम्म, कैसे जी देखो खिलाफ ही आलाम अली बा कितने हो गए पाँच हो गए और अलवसल के अंदर अलिफ लाम वाओ स्वाद लाम कितने हो रहे पाँच हो रहे कैसे कह रहे हो तुम ये कम है और उसमें मुख्तर है और उसमें जो है ज़्यादा और है तो ज़रा ध्यान लगाओ पढ़ के देखो जब समझ में आएगा चलो जी पढ़ के देख लेंगे वह मकामुल वसली जुबाइन मकामल वसली अच्छा इसका तो अलग अलग गया कितने बचे लाम वाऊ सात लाम चार बचे और उसके अंदर युबाइन मकाम खिलाफ ही खालाम अलिफ का अच्छा उसका कोई हर्फ नहीं कर रहा यहाँ पर एक हर्फ गिर जाते हैं पढ़ने में ये कितने हो गए चार और खिलाफ ये के अंदर नहीं गिरता वो कितने हो गए पाँच तो हाँ सही कहा तुमने है तो इसलिए यहाँ पर क्या अलवस्त्र लेकर आ गए खिलाफ खिलाफी नहीं था और दूसरी बात जाहिर हुई है समझ आ गई अरे समझ में नहीं आई वही नमा लम या मकाम ही और जुजी ने नहीं कहा मकाम खिलाफी क्यों लन्नहू अफसर इसलिए कि वो ज़्यादा मुख्तर है क्या अरे ज़्यादा मुख्तर क्या है अलवसल का लाना हाँ। और ज़्यादा जाहिर है लियन्ना खिलाफ अलफसली इनमा हुआ अलवसल इसलिए फसल का जो खिलाफ है वो वसल ही है चलो अब आगे चलते हैं वाली तमबी आलाजानी व मकामी ईजाजी युबाजिन मकाम खिलाफी अलामी वलमसावा बिल्कुल आसान है अब यहाँ एक बात ये कहते हैं कि भाई मकाम ईजाजी युबाजिन मकाम खिलाफी इसको क्यों अलग लिया है क्यों हम्म, तो क्यों लिया है अलग कहते हैं कि भाई ये भी अजीम शान है इस वजह से इसको अलग से जिक्र कर दिया और तंबी करने के लिए अजीम शान होने पर उसकी शान शान के अजीम होने पर यानी अजीम शान होने पर फसला कौला हो मुसनफ ने वह मकाम इजाजी लफ्ज को अलग कर दिया उन्होंने तो इसको भी वहीं जोड़ देते हैं जैसे उसको जोड़ा है ठीक है ना कैसे जोड़ते हैं मकाम कुल्लिमिन तनकीरी वल इतलाक़ी व तकदीमी व जिक्र व मकामिल फसली व मकामिल ईजाजी युगबाजिन मकाम खिलाफी ही ये जोड़ देते लेकिन अलग लेकर आए इस वजह से उसकी आजमत शाह की खातिर अब इसको आगे समझो व मकाम ईजाजी युबाजिन मकाम खिलाफी अलाबी वलमसावाती और ईजाज का मकाम मुबाइन है मुखालिफ है उसके खिलाफ यानी इसनाब और मसावत के मकाम के ईजाज का जो मकाम है वो इसनाब और मसावत के मकाम के मुबाइन और मुखालिफ होगा अब पहले तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि ईजाद किसको कहते हैं मुसावा इतनाब किसको कहते हैं और मुसावात किसको कहते हैं बताओ ईजाद किसको कहते हैं दुरुस्त बराबर में तुम पढ़ कर आए हो हम्म। ईजाज एजाज नहीं एजाज से शायद ईजाज ईजाज ईजाज इतना मुसावात इजाज इजाज कहते हैं कलाम कम हो बात ज़्यादा हो कलाम कम बात ज़्यादा यानी हम ज़्यादा बात को मुख्तर कलाम के अंदर अदा कर लें इसको कहते हैं इजाज मुख्तर कलाम को तवीर कलाम को मुख्तर कलाम के अंदर क्या कर दें अदा कर दें अरे बात है बहुत सारी लेकिन उसको क्या कर दिया मुख्तसर ऐसा कलाम लेकर आ गए कि उस मुख्तसर कलाम से ही कम फरूफ से ही वो सारी की सारी मुराद अदा हो गई सारे के सारे माना उसी के अंदर आ गए पुराने करीम के अंदर ऐसा बहुत होता है इतनाब और मुसावात मुसावात कहते हैं जितना कलाम उतने अल्फाज जितना कलाम उतने अल्फाज जितने मानी उतने अल्फाज जितनी बात कुछ नहीं कलाम और इतनाब कहते हैं जितने मानी जितने मुराद है जितने बात है उससे ज़्यादा अल्फाज लेकर आए जाए लेकिन वो जो ज़्यादा अल्फाज लेकर आए गए हैं वो फ़ायदे की गर्ज से हों बेफायदा ना उसको कहते हैं इतनाब इसमें एक चीज़ और आती है क्या तस्वीर तस्वीर तस्वीर किसको कहते हैं अरे मानी से जाए मानी से ज्यादा क्या हो कलाम हो अल्फाज जो है मानी से ज्यादा हो जो हम बात करना चाह रहे हैं मुराद से ज्यादा लेकिन वो बेफायदा वो बेफायदा हो तो उसको कहते हैं तवील कहते क्या इतनी लंबी सवारत कर दी इसने अपनी बात के अंदर जैसा कि बाज लोग कभी कभी करते हैं हाँ तो ईजाद का मकाम मुबाइन होगा उसके खिलाफ यानी इतना मुसावत के मकाम जहाँ ईजाज यानी मुख्तर कलाम को लाना होगा कम अल्फाज ज़्यादा मानी ऐसा मकाम होगा तो ये बराबर अल्फाज बराबर मानी तो उसके मकाम के मुबाइन होगा इसी तरह ज़्यादा अल्फाज और कम मानी लेकिन हो फायदे की गलत से उसके मकाम के भी क्या होगा मुबाइन और मुखालिफ होगा हर एक अपना अपना मकाम और हर एक का अपने अपना मौका हुआ करता है जैसे मिसाल देते हैं आगे और फरमाते हैं वकदा खिताब जकी माँ खिताब गबी और ऐसे ही जकी का खिताब गबी के खिताब के साथ जकी कहते हैं हमारे अब्बा को अरे हमारे अब्बा का नाम जकी है जकी यानी जहीन जहीन पे खिताब वो गबी के खिताब के साथ कुन जहन के खिताब जहन से खिताब के साथ क्या मतलब यानी जहीन से खिताब वो मुबाइन होगा कभी से खिताब के हम्म। अरे जहीन से जो खिताब होगा वो मुबाइन होगा किसके गबी के गबी से खिताब के कि गबी से खिताब किया जाएगा और जहीन से खिताब किया जाएगा जब जहीन के सामने कोई बात बोली जाएगी तो उसके सामने बारीक बारीक बातें और बड़े बड़े बारीक मानी और पोशीदा बातें कही जाएंगी और वो उसको समझ जाएगा लेकिन अगर यही बातें गवी के सामने कही जाएं तो वो उसको समझ नहीं पाएगा जैसा कि हमारे संदीप अली रहमा है माशा कि वो बारीक बारीक बातें बयान करते हैं तो इनको जो जहीन होता है वो तो समझ लेता है लेकिन जो जरा गवी होता है तो वो क्या उसको नहीं समझ पाता तो ये जो कलाम होता है ये जहीन के तो क्या है जहीन का तो यानी ये मौका है जहीन के सामने पेश करने का ये कलाम जहीन के तो मुनासिब है लेकिन जो कवि है कवि के मुनासिब नहीं है फ़ैन मकाबल अवली युबाइन मकाम सानी इसलिए कि पहले का मकाम दूसरे के मकाम के मुबाइन होगा पहले से मुराद और सानी से मुराद इसलिए के जहीन के मुनासिब वो एतबारात हम्म। लतीफ़ यानी बारीक बातें और बारीक मानी जो पोशीदा हैं उनके एतबार करना मुनासिब होगा लेकिन माला युनासिब जो मुनासिब नहीं होगा किसके कभी कभी के जो मुनासिब नहीं होगा कि उसके सामने ऐसी बातें पेश की जाए तो मालूम हुआ कि दोनों का मकाम वो अलग अलग है वलिकुल्लिकलिमतिन माहिबतिहा और हर कलीमे के लिए उसके साहिबा उसकी बहन के साथ उसकी साथन के साथ क्या है लहा मकाम उसके लिए एक मकाम हर कलीमे के लिए उसके साथी उसके साथी के साथ एक मकाम होता है साथी क्या यानी दूसरा कलीमा जो उसका साथी है उसके साथ में एक मकाम है लई तिलकल कलीमती मामा इशारे को तिलकर होती जो उस कलीमे के लिए नहीं है में के लिए माँ माँ जो उसके साथ शरीक है वो साथी किस चीज़ में फी असल माना असल माना में थोड़ा तर्जुमे टेढ़ा मेढ़ा है एक मिसाल समझो मिसाल इन और ईजा ये फ़ैल पर दाखिल होते हैं है ना और दोनों किसके लिए आते हैं शर्त के लिए आते हैं तो दोनों शर्त के लिए आते हैं ठीक है ना और दोनों क्या है फेल पर दाखिल होते हैं लेकिन इनमें भी फर्क है इन दाखिल होता है कौन से मकाम में शक के मकाम में और इजा दाखिल होता है किस मकाम में जज्म के मकाम में यकीन के मकाम में तो देखो फैल पर दोनों दाखिल होते हैं और इन और इजा दोनों ही शर्त के लिए आते हैं अरे उसका साथी तो है इन ये इजा का साथी है और इजा इनका साथी है लेकिन इन दोनों का मकाम अलग अलग है क्यों इन आएगा कहाँ शक की जगह और इधर आएगा यकीन की जगह में और जज की जगह में तो ये बात इन्होंने बता दी बस वलिकुल कलिमतिन मा साहिबतिहा अई मा कलिमतिन उखरा लहा मकामुन कलिमती मा साहिबती अखिल माना ये बात के उन्होंने अपने इन अल्फाज में कहा है और हर कलीमे के लिए कल फ्याली नीचे लिखा हुआ कल फ्याली जैसे कि फ़ैल है हर कलीमे के लिए उसके साथी के साथ यानी दूसरे कलीमे के साथ जो उसका मुसाहिबतुल्लाह जो उसका साथी है मकाम क्या है एक मकाम है अरे क्या है साथी जैसे कैन शर्तिया थी कैन शर्तिया नीचे लिखा हुआ ना कैन शर्तिया जैसे शर्तिया है इसका एक साथी क्या है ईजा हम्म? तो जो ईजा का मकाम है वो इनका मकाम नहीं है जो इनका मकाम है वो ईजा का मकाम नहीं है लहा मकाम उसका एक मकाम है लईसा लितिल कल कलीमती मा मा युशारिको तिलका साहिबती की असली माना हम्म। लईसा लितिल कल कलीमती उस कलीमे के लिए नहीं है यानी फेल के लिए नहीं है उसके साथ कि जो उस हम्म, जो शरीक है वो साथी किसमें असले माना के अंदर जैसे ईजा है असले माना में तो शरीक है ईजा भी और इन भी असले माना क्या है इनके दोनों के अरे शर्त दोनों के असली माना क्या है शर्त के लिए होना लेकिन फिर भी क्या है इनका मकाम मसलन वो फेल वो सीधा इख्तरान हो बिशर्ती जिसके शर्त के साथ मिलाने का इरादा किया गया फलहू मा इन मकाम बस उसके लिए इनके साथ एक मकाम है लई तलहू मा इदा के जो मकाम इदा के साथ नहीं है लई तलहू उसके लिए इदा के साथ वो मकाम नहीं है वह कादा और ऐसे ही लिकुल्ल कलिमतिन अदवात शर्त माल माजी मकाम लई सलहू माल मुजारी और ऐसे ही हर कलीमे के लिए अदवात शर्त में से माजी के साथ एक मकाम है ले सलहू तो उसके लिए मुजारे के साथ वो मकाम नहीं है अरे माजी और मुजारे दोनों हदूसी माना के नहीं आते हैं इनके अंदर हदूसी माना होते हैं लेकिन फिर भी इनके हर एक का एक एक मकाम हर एक का मकाम क्या होता है अलग अलग होता है और ऐसी हर कलीमे के लिए अदावत शर्त में से माजी के साथ एक मकाम है कौन सा मकाम कि जो उसके लिए मुजारे के साथ में नहीं है तो आला हादल क्यास और इसी पर तुम क़यास कर लो बाकी तफसील वो तुम नाहू किताबों के अंदर पढ़ भी चुके होंगे